देसी जायका के सभी सुनने वालों को पूजा का प्यार भरा नमस्कार um, <laughs> कई बार ऐसा लगता है कि बात करनी तो बहुत है कहाँ से शुरू करें सिरा नहीं मिल रहा um, कुछ वही हालत आज भी है कोविड की जो सिचुएशन चल रही है ये चलते हुए ऑलमोस्ट तीन से चार महीने हो रहे हैं मार्च वॉज द टाइम जब यूएस और भारत में लॉकडाउन शुरू हुए थे न जाने कितने लोग अपनी जान गंवा चुके हैं कितने लोग अपनी रोज़ी रोटी को छोड़कर घर में बैठना पड़ रहा है उसकी चिंता में पड़े हुए हैं और इन्हीं सब हालातों के बीच ऐसा लग रहा है जैसे ये 2020 कुछ ज़्यादा ही भारी है बहुत सारी ऐसी खबरें सुनने को मिल रही हैं जो मन को दुखी कर रही हैं बॉलीवुड में भी कई सारे सेलिब्रिटीज़ की इन पिछले तीन चार महीनों में एक के बाद एक उनके निधन की खबरें आईं और ऐसा जैसे मैंने पहले कहा कि लग रहा है 2020 काफ़ी भारी जा रहा है हम सब पर पिछले दिनों आम, हमारे बीच से बॉलीवुड में एक और सितारा जिनका निधन हुआ कोविड से नहीं she was seventy one year old she was a famous choreographer dance choreographer in Bollywood Saroj Khan मैंने एक इंटरव्यू में उनको कहते सुना था कि अगर कोई कलाकार चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री का हो या किसी भी मंच का कलाकार हो और जाना पहचाना भी हो अगर वो सौ साल तक जीता रहे मुफलिसी में जिए गरीबी से मर जाए शायद कोई पूछने नहीं जाएगा लेकिन मर जाए तो लोग उसकी कहानियाँ कहते हैं बातें करते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टेटमेंट बड़े दर्द से आया होगा न जाने ऐसा क्यों होता है कि हम जब इंसान होता है तो बातें कम करते हैं और जाने के बाद याद करते हैं but it's a side note आज का कार्यक्रम जो हम आपके लिए लेकर आए हैं it's all about Saroj Khan देखिए उनके इतने सारे फेमस गाने हैं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं आपको कोई अलग से गाने सुनवा रही हूँगी चारों तरफ चाहे वो ऑनलाइन चैनल्स हों रेडियो प्रोग्राम्स हों you must be hearing all of the songs her songs famous songs और कहानियाँ भी अमूमन um, चारों चारों इस तरह के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं सब में बताई जा रही हैं पर कहानियों का क्या है ना कि ये सुनाने वाले पे डिपेंड करता है कि न जाने उसने आ, कहानी का कौन सा हिस्सा उसके दिल को छुआ और उसने डिसाइड किया कि वो अपनी कहानी में उस पर स्पॉटलाइट डालेगा तो मैं कहूँगी कि आज का कार्यक्रम हम सरोज खान जी के लिए करने जा रहे हैं गाने सब आपके सुने हुए होंगे कहानियाँ शायद उतनी नहीं तो चलिए गाने की शुरुआत करती हूँ एक उस गाने के साथ जो शायद आपने सरोज खान से जोड़कर नहीं सुना होगा और फिर बताती हूँ उस गाने के साथ जुड़ी कहानी सुनिए निगाहें मिलाने कुछ चाहता तो फिर कैसा लगा ये गाना क्या जानते हैं आप कि इस गाने का संबंध सरोज खान जी से है कैसे पहले बताती हूँ इस गाने के बारे में और फिर आपको सुनाती हूँ वो कहानी ये गाना था फिल्म दिल ही तो है 1963 में रिलीज़ हुई थी ये मूवी इसमें पर्दे पर थी नूतन और उनके साथ राज कपूर गाने के बोल लिखे थे साहिर ने और संगीत दिया था रोशन ने आवाज़ आशा भोसले की तो इस गाने से सरोज खान जी के जुड़े होने की कहानी कुछ यूँ है कि there was a dance master उस समय सोहन लाल साउथ और उनके ट्रूप में ये सरोज खान थी ही spotted her as a the brightest student क्योंकि ये सिर्फ अपने ही मूव नहीं दूसरों के भी मूव्स को हु बहू याद रख सकती थी कॉपी कर लेती थी और बहुत अच्छा डांस करती थी तो उन्होंने इनको अपना एज असिस्टेंट के तौर पे अपने साथ रखा हुआ था तो ये राज कपूर की फिल्म दिल ही तो है जिसकी शूटिंग इंडिया में चल रही थी और उसी के साथ साथ राज कपूर जी की एक दूसरी फिल्म संगम की शूटिंग कहीं यूरोप में हो रही थी तो राज कपूर जी ने इनसे सोहनलाल जी से कहा कि भाई आप यूरोप चले जाइए आप ज़रा देख लीजिए वहाँ की शूटिंग को तब तक मैं अपनी यहाँ की शूटिंग ख़त्म करता हूँ वहाँ यूरोप में कोई गाने की शूटिंग होनी थी शायद ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तो जब यहाँ पर इस गाने की इस फिल्म की शूटिंग हो रही थी और उसमें ये गाना आया निगाहें मिलाने को जी चाहता है तो अब मास्टर जी तो थे नहीं तो इनसे कहा गया सरोज जी से कहा गया कि आपको इस यू नो गाने की कोरियोग्राफी करनी है and there was some hitches but she did it और आप अगर इस गाने का वीडियो देखें तो पर्दे पर नूतन जी ने इस गाने पर जो भी अदाएँ करी हैं जैसा डांस किया है it's all choreographed by 14 year old Saroj Khan तो ये थी कहानी इस गाने से जुड़ी हुई अब आ, सुनवाती हूँ आपको एक और ऐसा गाना जो कि पुराना है there are not many songs Saroj Khan ji के जो पढ़े जो यू नो रेट्रो में काउंट होते हों शी गॉट फेमस एंड काफ़ी नए गानों के लिए लेकिन ये गाना ऐसा है जो पुराना है और इसके पीछे की क्या कहानी है ये भी आपको बताती हूँ इस गाने के बाद सुनिए गाना जो आपने अभी सुना ये था 1974 की फिल्म गीता मेरा नाम से इसमें म्यूज़िक था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का आवाज़ लता मंगेशकर की थी और ये फिल्माया गया था साधना जी पर ये फिल्म बना रहे थे साधना जी के हस्बैंड अय्यर जी और साधना ने एक्चुअली पहले भी Saroj Khan as a assistant जो थी सोहन लाल जी की उनके साथ कई फिल्मों में काम किया था तो साधना जी ने इस फिल्म के लिए स्पेशली अपने हस्बैंड से कहकर कहा कि सरोज मेरे सिंगल सोलो कोरियोग्राफर रहेगी इस फिल्म के लिए और सरोज खान बताती हैं कि साधना जी ने खुद अपने पैसों से इनके लिए एज अ कोरियोग्राफर जो इनके छोट विजिटिंग कार्ड्स थे वो प्रिंट करवा के इनको दिए और from there she kind establish as a solo choreographer in movies तो ये कहानी थी इस गाने के साथ की पर एज अ भाई विजिटिंग कार्ड्स भी हो गए सोलो कोरियोग्राफर के नाम से लोग जानने भी लगे लेकिन सफ़र आसान नहीं था इनका काम अच्छा था इनको बहुत मूवीज़ भी मिल रही थी लेकिन mostly C grade D grade वाली मूवीज़ कोई अच्छी मूवी या अच्छा काम नहीं मिल रहा था उन दिनों ये बताती हैं कि ये एक किसी फिल्म की शूटिंग कर रही थी दादा मुनि यानी कि अशोक कुमार के लिए तो अशोक कुमार जी ने किसी एक गाने में इनका काम देखा तो इन्हें बुलाया और बोला कि ये तो तुम्हारा काम इतना अच्छा है तुम्हारा डांस इतना अच्छा है तुम्हारा नाम यहाँ क्यों नहीं है तो इन्होंने कहा भाई ये मैं कैसे बताऊँ कि मेरा नाम क्यों नहीं है तो उन्होंने कहा क्या नाम है तुम्हारा तो बताया सरोज तो बोले व्हाट अबाउट एक ए जोड़ लो तो उन्होंने कहा अरे दादा बहुत सारी जगह जाकर बदलना पड़ेगा सरोजा हो जाएगा और लोग समझेंगे मैं साउथ से आई हूँ तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है तुम्हारा सरनेम क्या है इन्होंने कहा खान तो बोले ठीक आज से तुम सरोज खान तो जो जो इनके कार्ड्स थे तो तब इनका नाम सरोज खान उन विजिटिंग कार्ड्स पे गया एंड शी इंडस्ट्री में उनको जाना जाने लगा सरोज खान के फुल नेम के साथ लेकिन तब भी भी कुछ खास ऐसा बदलाव नहीं आया बदलाव आया जब सुभाष घई की नज़र इन पर पड़ी सुभाष घई जी ने पहले इनसे कांटेक्ट किया अपनी उनकी एक करंट मूवी चल रही थी विधाता के सॉन्ग्स के लिए बट कुछ डेट्स का क्लैश हुआ और उसमें सिर्फ ये एक गाना उनके लिए कर पाई तो वो उस गाने में सुभाष घई को इनका काम बहुत पसंद आया और उसके बाद उन्होंने सरोज खान जी को साइन किया अपनी अगली मूवी के लिए हीरो के लिए जिसमें कि मीनाक्षी शेषाद्री थी और वो काइंड ऑफ टर्निंग पॉइंट था क्योंकि आम, उसके बाद ही इनको इंडस्ट्री में लोगों ने सीरियसली लेना शुरू किया हालांकि इनका काम पहले भी बहुत अच्छा था लेकिन लोगों का ऐसा सोचना था कि ओह सुभाष घई ने लिया था तो must be something really good so that was the turning point but असल टर्निंग पॉइंट आया फिल्म तेजाब के बाद तेजाब का वो iconic super famous song Madhuri के ऊपर फिल्म आया गया पहले सुनवाती हूँ उस गाने की एक झलक फिर बताती हूँ उसके पीछे की कहानी क्या सुनेंगे आप अरे पहले ये कहिए थी आप मैं मैं कर रही थी किसी का इंतजार कौन है वो वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नते बार बार कैसे? 1988 की तेज़ाब बोल लिखे थे जावेद अख्तर ने उसको संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और आवाज़ थी अलका याग्निक की तो बात हो रही थी फिल्म तेज़ाब के इस गाने से मिली सरोज खान जी की सफलता की तो हुआ यूं कि जब इन्हें इस फिल्म में लिया गया तो जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे एन चंद्रा उन्होंने कहा कि ये पहली बार ऐसा गाना है जो स्टेज पे फिल्माया जा रहा होगा और कोई आ, लोग सीट्स पे नहीं बैठे होंगे क्राउड विल बी वाइल्ड और you know everybody on their feet and dancing so गाना बहुत धमाल का होना चाहिए गाना लिखा अच्छा गया था म्यूज़िक बहुत अच्छा था अब दारो मदार था डांस पर तो सरोज जी ने इसकी इसको कंपोज किया फर्स्ट पार्ट इसका और एन चंद्रा जी को बोला कि आप आकर एक बार देख लीजिए वो देखने गए इस और उन्होंने कहा अगर आप इसको ओके कर देंगे तो फिर मैं माधुरी के साथ इसके रिहर्सल्स करूँगी जब एन चंद्रा इस गाने को देखने गए तो वो बताते हैं कि as soon as I saw the moves सिर्फ सिग्नेचर ट्यून पे उतने में ही मुझे पता चल गया था कि this is it she hit the right note and इस फिल्म में ये गाना कोरियोग्राफ हुआ माधुरी दीक्षित के ऊपर और बाकी तो हिस्ट्री है फिर इस फिल्म इसके जो एन चंद्रा जी के ही शब्दों में अगर कहूँ तो अगर आ, इस फिल्म को एक इस गाने को एक ट्रॉफ़ी की तरह माना जाना चाहिए क्योंकि इस गाने के लिए इनको आ, सरोज खान को बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड मिला था बट नॉट जस्ट दैट इसके पहले फिल्म फेयर में कोरियोग्राफी के लिए कोई अवार्ड था ही नहीं इस फिल्म इस गाने के बाद से पहली बार Filmfare introduced the award for best choreography and ये पहला अवार्ड पहली बार मिला सरोज खान जी को तो ये थी कहानी इस गाने के साथ जुड़ी हुई और फिर उन्होंने माधुरी के साथ बहुत सारी फिल्मों में काम किया ना सिर्फ फिल्मों में काम किया बहुत सुपर हिट गाने दिए जैसे जिनके लिए इनको फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले सैलाब का गाना हमको आजकल है इंतज़ार वो कौन भूल सकता है उसमें माधुरी के मूव्स फिर बेटा धक धक करने लगा खलनायक का गाना इन सब और अंजाम का चने के खेत में what signature moves in all दो सॉन्ग्स और अभी हाल में की थी कलंक जिसमें आलिया भट्ट और माधुरी दीक्षित थे सरोज खान माधुरी दीक्षित के लिए कहती हैं कि माधुरी की जो मेमोरी है वो इट्स अ एलिफेंट्स मेमोरी मतलब कि अगर एक बार एक मूव सिखा दिया तो उनकी मेमोरी में इतना ज़बरदस्त वो रिकॉर्ड हो जाता था कि सरोज जी को बहुत अलर्ट रहना पड़ता था वो कभी भी मूव अगर रिपीट करती थी तो तुरंत माधुरी पकड़ लेती थी कि ये मूव तो हम उस गाने में ऐसे कर चुके तो शी सरोज खान एक इंटरव्यू में बताती हैं कि माधुरी के साथ काम करने में मज़ा बहुत आता था because she was such a great dancer always very alert and हर मूव को वो बहुत ग्रेस के साथ प्रेजेंट करती थी ऐसी ही एक दूसरी हीरोइन का जिक्र जब सरोज जी करती हैं तो उनकी आंखें एकदम चमक जाती हैं वो थी चलिए पहले उनका गाना सुनवा देते हैं फिर बताते हैं कि वो कौन थी सुनिए Thank you. फिल्म 1987 की सुपरहिट मूवी मिस्टर इंडिया बोल जावेद अख्तर के संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का आवाज़ कविता कृष्णमूर्ति की और पर्दे पर नन अदर श्री देवी तो हम आपको बता रहे थे कि how what's the dynamic between Saroj Khan and Sridevi same जो बात वो माधुरी दीक्षित के लिए कहती थी वही बात वो श्रीदेवी के लिए भी कहती थी कि उनकी भी मेमोरी इतनी शार्प थी every movement they ever use in any song she just remembers it और अगर कभी रिपीट होता था तो इमीडिएटली पकड़ लेती थी और कहती थी अरे ये तो हम लोग पहले कर चुके हैं तो पर इनके साथ जो काम करने का सिलसिला शुरू हुआ था उसकी एक बड़ी मज़ेदार कहानी है हुआ यूँ था कि सरोज खान एक बार जब घर पहुंची तो इनको किसी ने फ़ोन करके कहा अरे तुमने हिम्मत वाला देखी उसमें एक लड़की ने डांस किया है और क्या कमाल का डांस किया है तो ये अगले ही दिन वो मूवी देखने गई और जब उन्होंने पर्दे पर श्रीदेवी जी को डांस करते देखा तो इन ये अपनी बेटी को साथ लेके गई थी और उससे उन्होंने अंधेरे में ही कहा काश मुझे ऐसी डांसर मिलती साथ काम करने के लिए तो मज़ा आ जाता और उसने मुस्कुरा के कहा भाई होगा ये भी होगा और अगले ही दिन इन्हें सुभाष घई का फ़ोन आता है कि एक गाना है और आपको कोरियोग्राफ करना है आप आ जाओ तो कर्मा फिल्म से तो इन्होंने पूछा कि हीरोइन कौन है और सुभाष गई ने कहा Sridevi she was like current believe it कि she just wished for it yesterday but उनको थोड़ी हिचकिचाहट भी थी उन्होंने सुभाष जी से कहा श्रीदेवी जी मेरे साथ काम करेंगी तो सुभाष घई ने बोला you are Mukta Arts which is Subhash Ghai की कंपनी थी क्यों नहीं करेंगी और शूट कहीं आउटडोर्स था तो इनसे कहा गया कि तुम वहाँ पहुँच जाओ रिहर्सल्स की ज़रूरत नहीं है और शूट हो जाएगा it will be all fine तो ये पहुँच गई सुबह वो गाना थोड़ा सा ऑफ बीट था मुझे इस समय गाने के बोल नहीं याद गाना थोड़ा ऑफ बीट था और it took retake after retake जब वो गाना पूरा फाइनली शूट हो पाया थर्टीन स्टेक it took that particular song तो उसके बाद जैसे ही शॉट ओके हुआ श्रीदेवी जी इनके सरोज खान के पास आई और बोली मास्टर जी मैं बहुत बुरी डांसर हूँ मुझे रिहर्सल्स की बहुत ज़रूरत है और आप ये भूल जाइए कि मैं बिल्कुल भी डांस जानती हूँ तो इनका सरोज खान जी ने कहा कि वेल इस बार तो सुभाष घई जी ने कहा था कि नहीं करने को रिहर्सल्स लेकिन आगे से रिहर्सल करेंगे and that from that day on जितनी बार भी सरोज खान बताती हैं कि जितनी बार भी उन्होंने श्रीदेवी जी के साथ काम किया है बहुत सारी मूवीज़ में um, जिनमें से कुछ नाम जो मेरे ध्यान में आते हैं चांदनी है चालबाज है चालबाज के गाने के लिए तो इनको अवार्ड um, भी मिला था फिल्म फेयर का तो हर गाने के पहले एक चाहे थोड़ा सा ही सही लेकिन अच्छा खासा रिहर्सल करके ही ये लोग गाने को शूट करते थे और वहाँ से इनकी एक रिलेशनशिप विद श्रीदेवी और सरोज खान की शुरू हुई थी तो चलिए अब आपको सुनवाते हैं चालबाज का एक गाना और फिर आपको सुनाते हैं एक और कहानी सरोज खान से जुड़ी हुई सुनिए अभी आपने सुना 1989 की फिल्म चालबाज से गाना इसमें एक बार फिर संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था आवाज़ कविता कृष्णमूर्ति और अमित कुमार की पर्दे पर श्रीदेवी जी लक्ष्य अभी आपने नोटिस किया होगा कि इन पिछले कई गानों में स्पेसिफिकली सरोज खान जी ने जिनका जिन गानों को कोरियोग्राफ किया है डांस उसके लिए उसमें संगीतकार जो है वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं तो सरोज जी कहती हैं कि उनकी नज़र में संगीतकारों में बेस्ट वॉज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और उन लोगों की जो काम करने की एक दूसरे के साथ जो इक्वेशन थी तो वो बताती हैं कि मैं लक्ष्मी जी से कहा करती थी कि लक्ष्मी जी प्लीज़ अपने गाने में वायलन मत डालिएगा क्योंकि जब वायलन एक यू नो पश्चिमी यंत्र है और जब ये वायलिन की टोन आती है तो या तो मुझे आ, अपनी एक्ट्रेसेस को भगाना पड़ता है या गोल गोल चक्कर करवाने पड़ते हैं उसमें डांस मूव डालने के लिए और ये बहुत मुश्किल हो जाता है और मज़े की बात ये कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हमेशा उनकी इस रिक्वेस्ट का ध्यान रखते थे अपने कॉम्पोजिशंस में और रिकॉर्डिंग्स के पहले पूछा करते थे आप रिकॉर्डिंग्स पे आती हैं आ रही हैं क्या तो ये इस तरह की एक रिलेशनशिप थी जो संगीतकार थे और जो कोरियोग्राफर थे और वैसे भी याद करते हुए ये कहती हैं सरोज जी कि उस वक्त के लोग कुछ अलग थे काम के प्रति उनका डेडिकेशन और एक दूसरे की जो इज्जत देने की बात थी वो इट्स अ क्वाइट डिफरेंट आज के समय से खैर इंडस्ट्री में एक बार इस्टेब्लिश हो जाने के बाद she worked with almost all big actor and actresses तो वो कहती हैं कि जो लोग डांस करते हैं कर लेते हैं जो आर हु आर डांसर्स उनके साथ काम करने में तो वैसे ही बहुत मज़ा आता है पर जो नॉन डांसर्स हैं जिनको रिजेक्ट कर दिया गया ये कह के कि वो डांस नहीं कर सकते उनको डांस कराने में जो चैलेंज है और जो मज़ा आता है उसकी कुछ बात ही अलग है जैसे for Sanjay Dutt she says कि वो he can't even dance to save his life but she made him dance for Tamma Tamma एक मंथ रिहर्सल चला एंड ही डिड ऑसम इसी तरह से um, Akshay Kumar Govinda they are like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 शाहरुख खान इस गाने के लिए सरोज जी कहती हैं कि जब कंपोज़ किया तो शाहरुख ने कहा और शाहरुख से कहा गया कि भाई रिहर्सल कर लो एंड ही सेट हो जाएगा आज सेट पे कर लेंगे and when he reach to the set next day और जब गाने को एक्चुअली परफॉर्म करने का टाइम आया steps were really you know थोड़े से ट्रिकी थे कॉम्प्लेक्स थे and but he put his tremendous effort every shot he took almost forty to forty minutes to one hour to practice and he did it so कहने का मतलब यहाँ सिर्फ इतना डांसर्स और नॉन डांसर्स सरोज जी ने अपनी धुन पे सबको नचाया सरोज जी की ज़िंदगी में डांस और उसकी क्या इम्पोर्टेंस थी या वो डांस को आम, किस तरह से जीती थी इसको बताने के लिए मैं एक और कहानी आपसे शेयर करती हूँ there was a Tamil movie Sringaram जिसमें कि सरोज खान जी कोरियोग्राफी कर रही थी it was based on actually classical dance Bharatanatyam उस फिल्म में एक गाना था और गाने में एक पीस था padam which is like pure classical piece और उस गाने में उस पीस में एक लाइन थी where heroine says that I am decorating and braiding my hair and waiting for you in anticipation so इस छोटी सी लाइन को वायल डायरेक्टर uh, जो श्रद्धा रामनाथन थी और जो इस फिल्म की हीरोइन थी जिनको इस गाने पे परफॉर्म करना था they were just sitting and Saroji इस गाने को कंपोज कर रही थी तो इस सिंपल सी लाइन में the way she did they are saying कि सरोज जी ने कुछ किया and the way she compose it उन्होंने इस छोटी सी लाइन में सोलह भाव उनको दिए जो इस फिल्म की डायरेक्टर श्रृंगारम की थी उन, उनका कहना है she and the heroine actually counted 16 emotion from anxiety fear breathlessness love um, you know shyness so many counted 16 emotions in one simple very small line and they were just so speechless so subsequently हुआ ये कि चेन्नई की जो एक बड़ी प्रीमियम सभा है श्री कृष्ण गान सभा जहाँ पे सिर्फ क्लासिकल परफॉर्मिंग आर्टिस्ट को ही बुलाया जाता है they invited Saroj Khan and it was a huge thing because they never invited anyone from Bollywood they invited Saroj Khan to do a lecture demonstration and it was huge Director Sudha Ramanathan ka kehna hai ki this happened because they must have seen what Saroj Khan is. And it was such a wonderful incident that how uh, if you are passionate you there is no boundaries for you uh, eh, for any art if you are passionate about I love this story चलिए आपको सुनवाती हूँ एक और गाना उनका कोरियोग्राफ्ट किया बाय द वे इस फिल्म के लिए उन्हें मिला था national film award film Sringaram के लिए अब आपको सुनवाती हूँ एक ऐसी ही दूसरी फिल्म से गाना जिसके लिए जिसके डांस के लिए मिला था आ, सरोज जी को एक और नेशनल अवार्ड और फिर बताती हूँ उसकी कहानी सुनिए हे डोला रे डोला जो आपने गाना सुना वो था 2002 की मूवी देवदास से उसमें बोल थे नुसरत बदर के आ, संगीत था इस्माइल दरबार का और आवाज़ कविता कृष्णमूर्ति श्रेया घोषाल और के के की और इस फिल्म के लिए भी सरोज जी को मिला था national film award film Devdas के लिए इस गाने से जुड़ी स्पेशली एक कहानी है जो संजय लीला भंसाली ने सरोज जी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी उस डॉक्यूमेंट्री में शेयर की वो कहते हैं कि जब ये गाने पे बातचीत चल रही थी तो एक दिन बड़ी सुबह सुबह सरोज जी ने उनको फ़ोन किया और कहा आप अभी आ जाइए एक बहुत अच्छी सी बात हुई है तो जब ये पहुँचे तो उन्होंने वो जो सिग्नेचर मूव है जो माधुरी और ऐश्वर्या ने किया है डोला रे डोला वाला वो दिखाया एंड uh, संजय जी कहते हैं he just caught up and clapped because it was such a easy move easy to caught an eye it conveys the song and a tune so perfectly and he says कि during the shooting of this song Saroj ji कुछ बीमार थी उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी दर्द था और वो बेसिकली सेट पर आकर लेट जाती थी और ज़मीन पर लेटे लेटे ही पूरा बताती रहती थी कि कैसे करना है तो फाइनली जब ये मूवी बन गई तो इसकी फ़र्स्ट स्क्रीनिंग के बाद उस वक्त इनकी तबीयत और ख़राब थी and she was Saroj Khan was in I C U तो जब पहली स्क्रीनिंग के बाद संजय लीला भंसाली और ऐश्वर्या रॉय um, इनसे मिलने आई सी यू में गए और संजय जी ने कहा कि इट्स uh, uh, संजय और ऐश्वर्या हैं आपसे हम लोग मिलने आए हैं Saroj Khan was you know under drugged और थोड़ी सी इंटॉक्सिकेशन जैसी जो आ, uh, हालात होते हैं वैसी थी और उस हालत में भी you know the first question she asked from to Sanjay Leela Bhansali she Bhansali Dola Re डोला पे सीटी बजी की नहीं तो Sanjay ji says that he felt like crying कि इट्स अपनी कला के लिए कोई इस कदर तक um, जा सकता है इस ऐसा फील कर सकता है कि वो इस हालत में भी शी इज़ वरिंग अबाउट कि गाना कैसा रहा and uh, i guess that shows a big character of uh, of an artist कि अपनी कला से प्यार होना और उसको एक पागलपन की हद तक जीना शायद यही रास्ता होता होगा सफलताओं की ऊंचाइयों को छूने का खैर चलिए आपको सुनवाते हैं ऐश्वर्या रॉय पे ही फिल्माया एक और सॉन्ग और followed by another song which was filmed on Karina Kapoor. और इन दोनों ही सॉन्ग्स को अगेन फिल्म फेयर अवार्ड मिला था तो चलिए सुनते हैं सॉन्ग अभी आपने सुना ये था 2007 की मूवी जब वी मैच से ये बड़ी रोमांटिक सुपर हिट मूवी थी इसमें इस गाने के लिए बोल दिए थे इरशद कामिल ने संगीत था प्रीतम का और आवाज़ थी श्रेया घोषाल की और पर्दे पर करीना कपूर और जो पहला गाना आपने सुना था वो था 2006 की मूवी गुरु से उसमें बोल थे गुलजार के संगीत रहमान का और आवाज़ें थीं श्रेया घोषाल और उदय मजूमदार की और इन दोनों ही फिल्म्स में इन दोनों ही गानों के लिए बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड मिला था सरोज खान जी को Wikipedia says that Saroj Khan choreographed more than three thousand songs and her career spans more than forty years but Saroj Khan ji कहती हैं कि एक्चुअली उनका करियर सिक्सटी सेवन ईयर्स के स्पैन में है ऐसा क्यों वो कहती हैं मैंने ये शायद इंटरव्यू लास्ट ईयर ही हुआ होगा उनका कहना है कि जब वो मात्र तीन साल की थी तब से वो फिल्मों में आ गई थी हुआ यूँ था कि उनके पेरेंट्स पाकिस्तान से मूव होकर मुंबई आए थे उस समय हालात बहुत अच्छे नहीं थे और वो जो उनकी वो उनकी पहली संतान थी और ये अपनी शैडो को देख के बड़ा डांस करती थी तो इनकी मम्मा को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है इसके दिमाग दिमाग में कुछ प्रॉब्लम हो गई हो तो वो इन्हें लेके डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद कहा ऐसा कुछ भी नहीं है बच्ची सिर्फ डांस करना चाहती है तो आप उसे फिल्मों में क्यों नहीं डालती और सरोज जी कहती हैं कि मेरी मॉम को इसलिए भी थोड़ा डर ज़्यादा लगा था कि उनके मदर या फादर के किसी भी साइड के ख़ानदान में कोई भी आर्टिस्ट नहीं था किसी का दूर दूर तक आर्ट किसी भी तरह की आर्ट से कोई नाता नहीं था सब व्यापारी टाइप के लोग थे खैर तो जब डॉक्टर ने कहा कि आप फिल्मों में इसको क्यों नहीं चांस दिलवाती तो उनकी मोम ने कहा भाई मैं तो जानती नहीं हूँ फिल्मों में किसी को I think that particular doctor उन्होंने ही किसी से इंट्रोड्यूस कराया और ये लोग पहुंच गए वहाँ एंड इनका पहला role as an child artist किसी हीरोइन के बचपन की भूमिका थी जिसमें वो चांद पे बैठ के गाना गा रही हैं एंड दैट्स देयर उनका करियर स्टार्ट हुआ वो काफ़ी समय तक चाइल्ड आर्टिस्ट के रोल करती रहीं लेकिन उसके बाद एक जब 10-11 साल की उम्र होती है जब आप चाइल्ड आर्टिस्ट के उसमें भी नहीं जा सकते और आप बड़े उसमें भी नहीं जा सकते फिर क्या हो तब उसी समय जैसा मैंने आपको कार्यक्रम के शुरू में बताया था कि सोहन लाल और हीरा लाल दो कोरियोग्राफर थे जो साउथ से बॉलीवुड में आए थे उन्होंने बॉलीवुड में जो डांसिंग सिनेरियो था उसको पूरा चेंज कर दिया था उनके पहले ना कैसे पेड़ के चारों तरफ खड़े होकर या स्टैटिक एक जगह खड़े रह के और गाना हुआ करता था लेकिन जब वो आए तो उन्होंने भाव भंगिमाएँ मूवमेंट्स इनकॉर्पोरेट किए गानों में उनका पहला गाना सोहनलाल हीरालाल जी का पहला गाना था अपलम चपलम और that's it was big hit and that's the big trend changer तो वो लोग क्या करते थे बहुत सारे ग्रुप डांसेस तैयार करते थे जो लोग पीछे करते थे या फिर कोरियोग्राफ करने के उससे भी तो उनके ट्रूप में ये क्योंकि इनको डांस का शौक़ भी था ये जाके उनके ट्रूप में भर्ती हो गई और आप जानते हैं इनका पहला गाना एज अ बैकग्राउंड ट्रूप डांसर कौन सा था <laughs> जी हाँ it was um, Madhubala ji का हावड़ा ब्रिज का आइए मेहरबा अगर आप उस गाने का वीडियो देखेंगे तो आपको ये बैकग्राउंड में dressed as a boy dance करती दिखेंगी वेल well, एक वो वक्त था जब इन्होंने बैकग्राउंड डांसर के या चाइल्ड आर्टिस्ट ये सारे यू नो स्टेप्स करते करते करते एक ये बड़ी कोरियोग्राफर बनी इन्होंने अपना नाम बनाया इनका बॉन नाम निर्मला नागपाल था इनकी ज़ाती ज़िंदगी बहुत संघर्ष में बीती बचपन में काफ़ी पैसे की दिक्कत थी उसके बाद शादीशुदा ज़िंदगी में भी कई उतार चढ़ाव आए लेकिन इस सब के बावजूद इस सब के बावजूद इन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपना एक नाम बनाया अपना एक मुकाम बनाया आज सरोज खान हमारे बीच नहीं हैं और जैसा कि वो कह गई थी कि जब इंसान चला जाता है तो पूरी दुनिया उसके गुणगान करती है बातें करती है होपफुली आप जहाँ भी हों आपकी आत्मा को शांति मिले मैं कार्यक्रम का अंत करना चाहूँगी मेरे एक पर्सनल फेवरेट के साथ जो जिसकी कोरियोग्राफी सरोज खान जी ने की है इसको ग्रेसी सिंह पे फिल्माया गया है फिल्म लगान का ये गाना मधुबन में भले कान्हा किसी को पी से मिले मन में तो राधा के ही प्रेम के हैं फूल खिले किस लिए राधा जले किस लिए राधा जले बिना सोचे समझे किस लिए राधा जले किस लिए राधा जले आनी जानी है राधा तो मन की रानी है सांझ सखरे चमना किनारे राधा राधा ही कान्हा पुकारे ओए, ओए, किसी गोपी के मन में जो पले किस लिए राधा जले राधा जले राधा जले राधा कैसे न जले किस लिए राधा जले राधा कैसे न जले किस लिए राधा जले किस लिए राधा जले पूजा को इजाज़त फिर मिलती हूँ तब तक मुस्कुराते रहिए गुनगुनाते रहिए नमस्कार